तो उससे अपने आप को दुष्प्रवृत्तियों में दुराचार में चौदह डाकू इत्यादि बुरे कार्यों से अपने आप को रोके रहते हैं बचाए रहते हैं जब कोई पुरस्कार मिलता है जिन लोगों को उसको देख करके जनता मुत्साहित होती है कि देखो इतना ये इसने अच्छा कार्य किया इसको राजा ने इनको इतना सम्मान दिया ऐसा पुरस्कार दिया राज दरबार में बुलाए गए उनको प्रशंसा भी हुई तो उनको उसको ये पता ऐसे लोग जनता भी चाहती हर कोई व्यक्ति चाहता है कोई महान कार्य करें जैसे तो प्राचीन काल में कवि लोग हुआ करते थे काव्य रचना करते थे तो राजा के दरबार में गए कविता उन्होंने सुनाई और राजा ने उनको पुरस्कार दिया तो उसको पुरस्कार दिया तो सारे देश में पता लग गया कि राजा ने अमुक कवि को पुरस्कार दिया तो दूसरे लोग भी काव्य रचना करना और प्रकार के कार्य करने में प्रवृत्त होते थे कहीं कोई व्यक्ति भी <clears throat> पुरुष है कोई तो वीरता को उसने कोई कार्य किया है समाज में रक्षा करने के लिए दूसरे लोगों को निरपराधी व्यक्ति को जो है धर्म प्राण व्यक्ति उनको बचाने के लिए किसी ने सहायता की है और खतरा भी उठाया है तो ऐसा देखा जब पता लगा तो राजा ने उसको पुरस्कृत किया तो दूसरे लोग भी सोचते हैं हमें भी इसी प्रकार से समाज की रक्षा के लिए वीरता का कार्य करना चाहिए तो उसमें भी उत्साह आता है इसी प्रकार से तो ये समाज में इस प्रकार से विकास करना समाज सुरक्षित रहे ठीक ढंग से चलती रहे इसके लिए चारों नीतियाँ राजा के लिए आवश्यक है तो इसलिए अंदर कहता है कि ये राजाओं के हृदय में ये चार प्रकार के गुण हैं ये चार नीतियाँ हैं जो अंदर रहती हैं <clears throat> वो जो है <clears throat> उनको क्या किया कि नीति धर्म के चरण सुहाये ये चारों जो है नीति और धर्म के चार चरण चार चरण है जो मैंने जैसे एक पशु है उसके चार पैर होते हैं उसके ऊपर पर चलता है इसी प्रकार से ये चार पैर हैं जिसके ऊपर राज्य का कार्य चलता है राज्य व्यवस्था चलती है उसके मूल सिद्धांत ये है और बाकी तमाम कानून बनते हैं बनते जाए बनते जाए बनते जाए लेकिन वो सब कानूनों के दर्शन क्या खिलाफत ही क्या है कि कानून बनता है क्यों बनता है आजकल जो है जैसे एल एल बी पास करते हैं तो उसमें तो लापड़ा दिया जाता है जो नियम होते हैं आजकल के फिर एल एल एम होता है मैंने मास्टर ऑफ लॉ होते हैं तो मास्टर ऑफ लॉ में फिर कानून की बातें कुछ और आगे भी पढ़ाई जाती हैं और फिर ये भी बताया जाता है कि कानून बनता के सिद्धांत पर है उसका आधार क्या है तो विश्व भर में एक से एक विद्वान व्यक्ति हुए और उन्होंने कानून बनाने के आधार बताए हैं इन बातों पर विचार रख करके कोई कानून बनाना चाहिए तो उनका सबका फिर वो पढ़ाया जाता है उन लोगों को तो ये जो है वो जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उनको उसकी फिलासफी कहते हैं फिलासफी ऑफ लॉ जिसके आधार पर कानून बनता है तो भारतीय कानून के जितने भी कानून तो हजारों बनते थे प्राचीन काल भी होते थे बनते थे लेकिन उन सब कानूनों की फिलासफी ये थी कि साम दम दंड और भेद इन चार के आधार पर कानून बनने चाहिए उससे प्रजा के भी पालन होगा राज्य की भी रक्षा होगा राजा का भी हित और प्रजा का भी हित सबका दोनों का हित इसमें बना रहेगा अब ये ये कहते हैं कि देखो ये भी साम दाम दंड और भेद इसका प्रयोग जो धर्म प्राण राजा है वो भी करते और जो अधर्मी राजा थे वो भी करते थे दोनों ही करते थे इस प्रकार यही चार युक्तियों का प्रयोग अगर कोई दुष्ट राजा होगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा और अगर जो धर्मात्मा राजा होगा तो इनको धर्म की दृष्टि से इनका पालन करेगा तो शास्त्र ये कहते हैं कि राजा की चार नीतियाँ ये अवश्य हैं लेकिन इनका धर्म के अनुकूल उपयोग होना चाहिए धर्म को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए अब ये कहा गया की चार जो है ये है राजा की चार नीतियाँ जो बनाई गई काम दाम दंड भेद ये क्यों बनाए गए इनका आधार क्या है क्या विचार करके चार बनाए गए तो उसका उत्तर ये है कि धर्म विचार करके बनाए गए जो सबका धारण करने वाला धर्म धर्म मूल है वो सबकी रक्षा करता है राजा की भी रक्षा करेगा प्रजा की रक्षा करेगा धर्म कैसे रक्षा करेगा ये चार से नीति के चार जो स्तंभ हो गए इन चार के द्वारा फिर वो राजा और प्रजा सबकी रक्षा होगी इसलिए धर्म इन चार में भी धर्म प्रमुख है अधर्म का जैसे भेद है तो गुप्त भेद का पता लगावे तो राजा जब कृष्ण राजा होगा तो अपना स्वार्थ साधन कर रहा होगा तो प्रजा में बहुत से लोग ऐसे होंगे राजा के विरोधी होंगे और राजा कार्य कर रहा है उसकी निंदा कर रहे होंगे तो वो पता लगा कोई हमारी निंदा कौन कौन कर रहा है और जहाँ उसे पता लग गया कि मेरी निंदा करने वाला है तो उसकी निंदा करने वाले को पकड़ के बुलाएंगे जेल खाने भेज देंगे हम्म? अभी राजा क्यों कर रहा है वो स्वयं अधर्म के मार्ग पर है और भेद नीति भी अधर्म के आधार पर उपयोग में ला रहा है सवाल शास्त्र कहते हैं कि ये चार का प्रयोग तो करे लेकिन धर्म संगत तरीके से प्रयोग न करे अधर्म के द्वारा प्रयोग न करे तब ये चारों कल्याणकारी हितकारी होंगे इसलिए नीति घर में के चरण सुहाये असभ्य जान नाथ तय आए तो कहते हैं ऐसा हृदय में समझ करके ये भगवान जी आपके पास आ गए असभ्य जान माने इन चारों ने काम दाम दंड भेदों ने अपने हृदय में ऐसा जाना कि ये तो राजा के ये नीत और धर्म के चार चरण है ऐसा समझ करके आप फिर के पास आ गए क्योंकि आप धर्म परायण है और नीत की रक्षा करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने वाले हैं इसलिए चारों आपके पास आ गए और रावण का साथ छोड़े क्यों इन्होंने देखा कि रावण में न नीत है न धर्म है इसलिए चारों वहाँ से रावण का हृदय छोड़ करके आपके पास आ गए तो देखो अंदर की कितनी चतुरता बात करने की कि तो अंगद ये नहीं कहता कि मैंने भेज दिए ये कहता अंगद कि ये तो चार मुकुट नहीं है राजा रावण के हृदय में काम दाम दंड भेज करके उसके हृदय में बात कर रहे थे तो जब उन्होंने इन चारों ने देखा कि रावण सुप्त है अहंकारी है और स्वार्थी है तो उसका हृदय छोड़ करके ये चारों भाग जाए और आपके पास चले अपने आप चले आए अपने आप चले अंदर ये कहता कि मैंने इस प्रकार से पत्ता और उसका सिर के बाद जब मुकुट गिर पड़े तो मैं छीन लिए उठा लिए और मैंने फेंक दिए ये नाम ही नहीं देता था कभी तो आज है आपके पास में फिर कहता कि धर्म ही न प्रभु पद विमुख काल दिवस दस ही रावण जो था उसमें तीन माता धर्महीन था और प्रभु पद विमुख और भगवान के विरोधी और काल दिवस अब उसकी मृत्यु आने वाली मरने वाला विनाश होने वाला है ऐसा देख करके इन चारों ने ब्राह्मण के साथ छोड़ दिया जब जिस राजा का राज्य समाप्त होना होता है उसका अंत होना होता है तो ये चारों से स्थान छोड़ करके चले जाते हैं तो चले गए तो फिर राजा पर फूल से सीधे कार्य करने लगता है और फिर उसका विनाश हो जाता है तो कहते हैं इसलिए कई परिहरी गुने आए स्नो कौशला भी इसलिए इन तीन दोषों को देख करके साम दाम दंड भेद रावण को छोड़ करके आपके पास चले आए आप जो है वो भगवान स्वयं है और धर्म प्रायण भी है धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं और रावण को काल दिवस है वो मारा भी जाएगा आपकी जय होगी इसलिए सब चारों छोड़ करके आपके साथ आ गए और आप कौशलाधीश है कौशलाधीश बने आप राजा है अब रावण को तो राज्य नाम मात्र का राज्य राजा तो अब आप ही हो ऐसे कह करके भगवान वो अंगद जो वो हो भगवान के भगवान की ही प्रशंसा करता है अब देखो अंदर जो कुछ बोलता है तो अपनी प्रशंसा की कोई बात नहीं जो कुछ बात है भगवान की प्रशंसा की बात है जैसे भगवान आप प्राण हो आप कर्मज्ञ हो आप शरण में आए हो कि अच्छा करने वाले हो कृपालु हो दयालु हो <clears throat> उदार हो सब भगवान की बात वो बोलता है उन्हीं की प्रशंसा भगवान की बोलता है अपनी नहीं बोलता तो आप देखते हैं कि परम चतुरता श्रवण सुनी हसे राम उदास तो कहते हैं कि भगवान राम ने देखा कि परम चतुर्था श्रवण सुनी भगवान ने देखा भी अंदर कितना चतुर है और बेहस राम उदार थे भगवान भगवान ने जब प्रश्न किया था तो भी बोले बेहस कपाल उखरारी और जब अंदर ने सब बात कह दी तो भी भगवान जो है उसकी बात को सुन करके हंसे और इसके बात पर आते कि अंदर बड़ा चतुर है बड़ा चतुर के तो मैंने इसने अपना अहंकार छुपा लिया अपना अहंकार प्रकट नहीं किया और भगवान की प्रशंसा उसने कर दी ये सब बात भगवान ने देखी थी अंदर की चतुरता हो और इस बात से भगवान देखते हैं कि जब यदि अहंकार कोई व्यक्ति प्रकट नहीं करता तो भगवान प्रसन्न है यदि कोई अहंकारी है तो भगवान नाराज ये नियम है तो समाचार पुण्य सब कहे और गल के बाल कुमार इसके बाद तो भगवान ने पूछा कि ये तो हो गया मुकुट की बात और जो कुछ दरबार में जो कुछ बात हो गई थी वो हो गई भगवान ने कहा कि ये तुम बताओ कि लूट का काम केवल इतना ही नहीं था वहाँ पर चर्चा पहले नहीं आई है इस प्रश्न से ये पता चलता है कि अंगद जब रावण के पास गया है तो रावण से जो चर्चा बातचीत हुई सो हुई है लेकिन अंगद जब नगर में गया और रावण के दरबार में गया और वहाँ का आस पास का जो कुछ उसने हालचाल देखा तो ये भी पता लगा कि तो वहाँ से आया कि ये किला कैसा है रावण का किले में कितने द्वार हैं उन द्वारों के ऊपर क्या क्या अस्त्र शस्त्र लगाए गए हैं क्या क्या व्यवस्था की गई है रावण अपने आप को कैसे सुरक्षित बनाए हुए है वो कैसे समझता है कि मैं सब प्रकार सुरक्षित हूँ कोई भी आ जाए हम कैसे निपट लेंगे इस सबका भी पता लगा करके अंगत आया है झूठ है तो ये सभी पता लगा तो कहते समाचार पूरी सब कहे गढ़ के गढ़ के सब समाचार कहे तो माने फिर अंगत ने ये भी बताया कि तो भगवान ऐसा है कि अंगत के वो रावण के जो किला है उसके चार दरवाजे हैं उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चार फाटक उसके और चारों फाटकों के ऊपर उसने जो वो अपनी सेनाएं लगा रखी है वे सेनाएं सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है रावण ने इसकी तैयारी कर रखी है कि कोई उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो वो रावण उसको युद्ध करने के लिए तैयार है जानता है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता हर दरवाजे के ऊपर विवाहकार सेनाएं उसकी लगी हुई है व्यू युद्ध में व्यू बनाए जाते थे पहले नर व्यू चक्र व्यू गरुड़ व्यू संड व्यू इस प्रकार के व्यू कहलाते थे ये व्यू बना करके सेनाएं खरीद की जाती थी और फिर युद्ध होता था व्यूहाकार सेनाएं कहलाती थी व्यू प्रसिद्ध है महाभारत का जिसमें कि अभिमन्यु मारा जाता तो ये व्यूहाकार सेनाएं विशेष लाइन से खरीद की जाती है और फिर युद्ध होता है तो उनको व्यू कहते हैं इस प्रकार से सब चारों द्वारों के ऊपर चार व्यूह उसने बना रखे थे पूर्व के द्वार पर खंड व्यू बना रखा था दक्षिण द्वार पर नर व्यू बना रखा था उत्तर द्वार पर चक्र व्यू बना रखा था हम्म, एक, तो तरफ जो है गौड़ व्यू बना रखा था इस प्रकार चारों दरवाजों पर चार व्यू बना रखे और फिर रावण ने अपने चार बड़े बड़े जो योद्धा थे मुख्य योद्धा थे सेनापति थे चारों दरवाजों पर सेना के सेनापति बना करके रखे हुए थे पूर्व के द्वार पर श्रेष्ठ को नियुक्त कर रखा था दक्षिण के द्वार पर एक महोदर नाम का बड़ा शक्तिशाली वो था सेनापति था उसको दक्षिण के द्वार पर लगा रखा था पश्चिम के द्वार पर अपने पुत्र मेघनाथ को ही लगा रखा था उत्तर के द्वार पर रावण ने कहा था मैं स्वयं उत्तर के द्वार पर रह करके युद्ध करूंगा तो उसने उत्तर के द्वार पर रावण रहा इस प्रकार से चारों द्वारों के ऊपर ये चार सेनाएं इकट्ठी हो गई लग गई उनका जो है वर्णन सब उसने कर दिया अंदर ने कि इस प्रकार की व्यवस्था है अब आप जैसा समझो वैसा करो तो वो सब ये भी सब अंदर से मालूम हो गया जब मालूम हो गया तो अंदर ने सब वर्णन सबके सामने किया उस समय सब लोग बैठे हुए थे सुग्रीव थे हनुमान जी भी थे जामाना जी भी थे ये सब बैठे हुए थे उन्हीं के सामने ही सब बात अब देखो आगे भगवान क्या करते हैं विभु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बांके चार द्वारा कही बिजलागी बिचारा तब कबीर छेद विभीषण हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार दिन मंत्र धरावा चार कपि कटक बनावा तथा योग सेनापति कीने जूठप सकल पोल ने प्रभु प्रताप कई सब समुदाये सुन कपि सिंगला भी कर चरित राम करण सिर नावही गही गिर शिखर वीर सब धावही कर जही कर जही भानु कपीसा जय रघुवीर कौशला पीता जानत परम दुर्जय तिलंका तब प्रताप कवि तले तोप कर सजेरी मुख निशान बजा वही घेरी राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव जय जय कपि भानु महाबल सिंह सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय रुख समाचार जब पाए तो रिप समाचार पाए तो अंगद के बताने पर जब ये मालूम हुआ कि रावण ने अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए क्या इंतजाम कर रखा है सब मालूम हो गया तो क्या किया राम सचिव सब निकट बुलाए सब भगवान ने जो कि सब ये सब अंगद इत्यादि दूर बैठे हुए सब बातें सुन रहे थे और अंगद बात बैठे हुए थे सुग्री बात सब दूर थे तो अब भगवान ने उनको बुलाया था जरा पास आओ हम्म, तो उन सबके सबका आकर के पास भगवान के पास आ गए कौन कौन आ गए कर निकट कौन कौन ये जितने भी थे ये आदि नाम उनके गिनाते हैं कपीस रिक्षेस और विभीषण ये तीन आते हैं कपीस के माने सुग्रीव रिक्षेस के माने जामान और विभीषण इन तीनों को बुलाया भगवान ने तो ये सब पात्र बैठारे राम सचिव सब निकट बुलाए इन सबको अपने पास बुलाए और फिर उनसे कहा लंका पाके चार द्वारा देखो अंगद ने बताया कि इसके रावण ने लंका के अपने किले के चार दरवाजे बना रखे हैं और चारों दरवाजों पर अपनी रक्षा करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना रखी है कई भी दिलाजी करो बिचारा अब सब लोग अपनी समझ लो विचार करो कि कई भी दिलाजी है मैंने अब उनके ऊपर आक्रमण किया जाए और किस प्रकार से इसके ऊपर रावण के ऊपर विजय प्राप्त की जाए अब वो आप सब लोग बताओ अब देखो जानते भगवान सब कुछ हो कुछ भी हो तो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते तो ऐसा करो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए तब होता है कि सब कपी सदस्य विभीषण सभी हाँ, दूसरे मंत्री तीनों थे उन्होंने क्या किया सुमेर हृदय दिन कर प्रभूषण ये विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए तो विचार कैसे प्रारंभ करते हैं पहले भगवान का नाम लेते हैं हृदय में कि भगवान हमको सदबुद्धि दो ऐसा हमारे हृदय में भाव विचार करो कि जो सही हो और सही निर्णय हमारा हो और कार्य सही हो सके हमारी राय सही निकले तो ये जानते हैं सबके साथ कि जो कुछ भगवान की प्रेरणा जो कुछ हृदय में होगी वो सही बात होगी हम अपनी बुद्धि अहंकार लेकर के कुछ विचार करेंगे तो उसमें कमी रह जाएगी इसलिए कहते हैं सुमेरी हृदय हृदय में विचार करके दिनकर कुलभूषण सूर्यवंश के कुल के जो भूषण भगवान राम है उनका स्मरण करें माने बुद्धि को प्रकाशित करके दिन करके माने सूर्य मानी ये कहते हैं विचार करो तो जैसे दिन में विचार करो और दिन का सूर्य दिन का देवता सूर्य जो है वो वो सूर्य बुद्धि का भी देवता है उसका स्मरण करो सूर्य का प्रकाश जैसा बुद्धि में भी प्रकाश हो तब सही बुद्धि से ज्ञान हो बुद्धि मंद होगी मलिन होगी तो फिर सही विचार नहीं आएगा भगवान का स्मरण करेंगे तो बुद्धि निर्मल बनेगी उदार बनेगी सही विचार आएगा तो ऐसे इन लोगों ने किया ये विचार करने का तरीका बता दिया क्या कर विचार मंत्र चढ़ावा फिर इन सबने फिर विचार किया आपस में सोच रहे अब ज्यादा विचार नहीं किया क्या विचार किया आपस में लोगों ने कुछ विचार कर दिया और विचार करके मंत्र चढ़ावा मंत्र के मैंने निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए भगवान को क्या राय देनी चाहिए सुनो निश्चय कर लिया भगवान को राय दे दी और क्या कह दिया कि चार यानी कभी कटक बनावा और उन्होंने कहा भगवान से कि हमने चार सेनाएं बना दी है अनेक सेना की चार टुकड़िया बना दी हमने अपनी समस्त सेना को चार भागों में बांध लिया और उन चारों के साथ सेनापति बना दिए जिसके आप टुकड़े होंगे तो बिना सेनापति के थोड़े होंगे एक सेना के सेनापति को नीत बना दिया एक टुकड़ी का अंगद को प्रधान बना दिया एक को हनुमान का प्रधान बना दिया और कहा भगवान से कि एक जो वो हो सेना जो है बाकी सेना आपके साथ में रहेगी भगवान राम और लक्ष्मण के साथ नील को कह दिया कि तुम पूर्व द्वार पर रहना और प्रहस्त से तुम्हारा युद्ध होगा हम जब कह दिया तुम दक्षिण द्वार पर रहोगे और वहाँ महोदय से तुम्हारा युद्ध होगा <coughs> और हनुमान से कह दिया कि तुम पश्चिम द्वार पर रहोगे और युद्ध करोगे ये आगे चक्कर के धीरे पता लग जाएगा यहाँ सब तुलसीदास जाति ने स्पष्ट नहीं किया है जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा वहाँ पर उस समय बता देंगे तो हनुमान जी पश्चिम के द्वार पर मेघनाथ से युद्ध करते हैं उत्तर के द्वार पर भगवान राम रहते हैं योद्धा लोग रहते हैं रावण जब आता है निकलता है भीतर से उत्तर द्वार से तब भगवान राम का रावण से युद्ध होता है उनका इस प्रकार की चार सेनाएं बन गई चार दरवाजे पर लगा दी गई और उनके सती युद्ध होने लगा इस प्रकार ये तो ऐतिहासिक कार्य है और एक राजा का भगवान राम का रावण से युद्ध होता है तो युद्ध भूम और युद्ध कौशल और उसकी व्यवस्था का वर्णन है लेकिन हम लोगों का जो कार्य है वो निरा युद्ध युद्ध से मतलब नहीं है हम लोगों का आध्यात्मिक युद्ध हमारा उद्देश्य है इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ये देखना चाहिए ये निशाचर हमारे अंदर बैठे हुए हैं ये काम तो लोग वो मत निशाचर है और देवता लोग हैं ये जितने भी हैं जो है सदबुद्धि उदारता दया क्षमा करुणा सज्जनता साधुता ये सब जो है ये है ये सब जो है वो दयी गुण है अब इन दोनों का युद्ध होना है तो युद्ध के लिए क्या हुआ है कि जितने भी निशाचरी प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर बैठी हुई हैं उन्होंने भी चार दरवाजे बना रखे हैं और चार दरवाजों पर टिके हुए हैं ये बात कैसे पता लगे शास्त्रों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करते रहे तो सब मिल जाएगा गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि देखो कि ये काम जो है ये है कामना बस यही मुख्य शत्रु यही है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरा कदम तुम्हारा जो शत्रु है ये काम बस इसके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो जय शत्रु मैं जीतो और दुरासदम ये दुरासद है मैंने बहुत आसानी से जीतने वाला नहीं इससे युद्ध करके इसे विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है और फिर वही भगवान ने बता दिया है इसका बात कहाँ कहाँ है इंद्रियों के द्वार के ऊपर तो ये प्रारंभ में मिलता है लेकिन आकर के किले बंदी जो है वो अंताकरण में है और वहाँ पर सचना अंताकरण रूपी किला है और मन बुद्धि चित्त और अहंकार इसके चार द्वार है इन चारों द्वारों के ऊपर यह निशाचर अपनी अपनी सेना लगाए हुए जमाए हुए अपने भीतर हमारे भीतर बैठे हुए भगवान आते हैं और उनकी दैवी संपत्ति की सेना आती है तो वो इन सबके चारों तरफ वो हो चारों द्वारों पर वो लगती है और युद्ध करती है चारों द्वारों पर युद्ध करना पड़ता है इनकी सेना क्या इस प्रकार से है है कि जो एक एक मन का द्वार है उस द्वार के ऊपर निशाचरों की अधर्म की सेना लगी हुई है वहाँ भगवान अपने धर्म की सेना लगा देते हैं अहंकार के द्वार के ऊपर निशाचरों का अहंकार है वो हो वो सेना अहंकार की सेना लगी हुई है तो वहाँ पर वो हो भगवान जो सेना लगा देते हैं वो हो कामना त्याग का लगा देते हैं कर्तृत्व भाव त्याग की सेना लगाते हैं यदि कोई व्यक्ति कर्ता भाव छोड़ दे कि कर्म करने वाला मैं हो तो अहंकार जाता रहे जब व्यक्ति कहता मैंने किया मैंने किया तो फिर उसका अहंकार बढ़ता है यदि समझ लें मैंने कुछ नहीं किया करने वाला परमात्मा उसी ने शरीर बनाया उसी ने मन बनाया उसी ने प्राण बनाए तो हमारे बनाए गए तो सब उसी के बनाए हुए सब उसी की चलाई चलते भी है पत्र उसमें जो कुछ भी उनके द्वारा होता है वो कुछ हम हम अपना कर करके उसको मानते हैं तो सब झूठ बात है इसलिए सत्य बात ये है कि सब करने वाला परमात्मा है तो कर्तव्य भाव अपने आप में न रखा परमात्मा के ऊपर छोड़ा तो अहंकार मिटा तो अहंकार के द्वार के ऊपर सेना भी लगी वो कर्तव्य भाव के त्याग की लगी चित्त के द्वार पर भक्ति की सेना लगा दी गई चित्त जो है वो भावना का स्थान है केंद्र है और वो भगवान इतने ने भगवान में मनमार ये भावना अगर चित्त में आ गई तो समझो कि चित्त में कि जितनी भी बुराइयां चित्त में भरी हुई थी सब समाप्त हो जाएंगी जितनी भी दुर्वासनाएं चित्त में भरी हुई थी वो सब समाप्त हो जाएंगी और बस वो भक्त उसका विनाश कर देंगे बुद्धि के ऊपर जो वो जो निशाचक लोग बुद्धि के क्षेत्र में क्या करते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं उसी युक्तियाँ सोचते हैं छल प्रपंच आदि करते हैं बुद्धि के द्वारा अब इसमें जो शास्त्र क्या कहते हैं इसमें कि हमें बुद्धि के स्तर के ऊपर ज्ञान की सेना लगानी चाहिए ये देखना चाहिए सत्य क्या है असत्य क्या है अगर बुद्धि को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है अविद्या मिट जाती है अज्ञान जाता रहता है तो फिर वो जो निशाचर बुद्धि के स्तर पर भी सब निशाचर मारे जाते हैं चारों द्वारों के ऊपर अगर विजय प्राप्त हो जाए मन बुद्धि के अहंकार के ऊपर और निकाकर वहाँ से भाग जाए और उनके चारों के ऊपर धर्म निष्काम कर्मयोग ज्ञान भक्ति इन चारों का आधिपत्य जम जाए तो समझो की बस पूरी विजय प्राप्त हो गई और अपने अंदर कोई निशाकर नहीं रहेगा भगवान ही हृदय में बात करेंगे और देवता ही अपने हृदय में बात करेंगे जीवन उज्जवल महान सत्य बन जाएगा इस बात को ध्यान में रख करके देखें कि आगे युद्ध कैसे चलता है और उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाती है तो बस कहते हैं जथा योग सेनापति की ने फिर उन्होंने जो वो हो सबके यथा योग्य सेनापति बना दिए अब सेनापति ने सबने नाम बता दिया आगे तक पता चल जाएगा कि ये सब सेनापति यथा योग्य बने हर सेना चार सेना टुकड़ी बना दी उन चारों के सेनापति बना दिए और जूठा में तो सकल बोली कल दी ने और जितने उन यूथप थे मैंने चारों के जो सेनापति बनाए गए थे उन चारों को फिर बुलाया और बुला करके उनका उनका काम सौंपा कि तुम फलाने द्वार के ऊपर तुम रहोगे और तुम इतनी सेना के तुम मालिक हो गए सेनापति नियुक्त कर दिए गए ये कार्य तुम्हारा है इस प्रकार उनको काम सौंप दिया गया तो भगवान के विचार के द्वारा भगवान की सम्मत लेकर के इन सब लोगों ने इस प्रकार से सेना की व्यवस्था कर दी प्रभु प्रताप कई सब समझाए और उन सब सेनापतियों को समझा दिया कि देखो ये सब शक्ति भगवान राम की कार्य कर रही है तुम भी युद्ध करोगे तुम जी मत समझना कि तुम्हारे बल कुछ बल है तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर भगवान ही कार्य करेंगे उसी चीज बल पर तुमको विजय प्राप्त होगी तुम्हें तो केवल यश प्राप्त होना है भगवान तुमको दिलाना चाहते हैं बस उसको तुम समझना तुम इसमें करने में अहंकार अपने मत रखना ऐसे समझ करके जाओ युद्ध करो तो सुन कपिल सिंह नाभि कर तो वह तो सुन करके जितने भी मानव थे सिंगनाद करके बस वो चल गए अपनी अपनी सेना उन्होंने दी और जाकर के जिस द्वार पर उनको लगा दिया जाए तो उस द्वार पर अपने बानर सेना लेकर के उसको पहुंच गए और पहुंच करके सिंगनाद कर रहा मैंने वो गर्जना करते हुए सबके सब चल दिए बड़े उत्साह के साथ में हर्ष राम चरण शरण नाम जब वो जाने लगे तो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के चरण प्रणाम करते हैं और देखो हर्षित के माने दो बातें और उद्देश्य है जब भगवान को प्रणाम करो तो हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए जब गुरु को प्रणाम करो तो हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए और जब युद्ध करने चलो तब हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए यदि प्रसन्न होकर युद्ध करने जाएगा तो तो विजय मिलेगी और जो रोते रोते युद्ध करने जाएगा तो आ जाएगा इसलिए हर्षित राम चरण सिर नावई सब बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों प्रणाम करते हैं और उत्साहित होकर युद्ध करने चलते हैं और कहीं गिर शिखर वीर सब धावे अब ये सब ये बारह सेना सब क्या करते हैं ये इनके पास अस्त्र क्या है गिर शिखर वीर सब ये सब पर्वत के पत्थर टुकड़े ले लेकर के दौड़ते जिसके ऊपर जितना पत्थर उठा पाता उतना भारी पत्थर लेकर के दौड़ता है और जहाँ निशाकर मिलते हैं वहाँ उनके ऊपर निशाकर ऊपर वो पत्थर जय मारते हैं बस उसी से मर गया तो मर गया और गर्ज गर्जही भालू का पीसा और ये सब गर्जते हैं कि बात छोड़ करते हैं अपना अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए गर्जना करते हैं और तर्जे तर्जे में चिटकते हैं कूदते हैं थामते हैं करिए भालू का पीछा सेना में पानर भी है और भालू है ये सब इसी प्रकार से युद्ध करने के लिए आचल दिए ये पहले दिन का युद्ध का प्रारंभ इस प्रकार से होता है और जय रघुवीर को सलाह भी अब जब युद्ध होते थे दोनों तरफ के जो सैनिक होते थे अपने अपने राजा की जयकार बोल करके युद्ध करते थे तो ऐसे करके ये अपनी जयकार करके बोलते हैं तो जब रावण की तरफ से होंगे तो वे जब युद्ध करेंगे तो रावण की जयकार बोलेंगे तो इसी प्रकार यहाँ जब भी बानरों की भालुओं की बात है तो ये भगवान राम जी जय रघुवीर कौशलाधि का कौशलाधि भगवान श्री राम जी की जय हो जय हो इस प्रकार से कहते हुए युद्ध करने के लिए गिर पड़ते और जानत परम दुर्गयती लंका और वो सब जानते हैं कि लंका जो बड़ा कठिन ये जो है दुर्ग है ये ये दस किला जो है वो साधारण नहीं है इसके द्वारों को तोड़ना और इनके ऊपर विजय प्राप्त करना साधारण नहीं है लेकिन भगवान के ऊपर भी इनको विश्वास है कि भगवान की शक्ति हमको प्राप्त है और हम विजयी होंगे प्रभु प्रताप कभी चले शंका लेकिन फिर भी उनको भगवान की महिमा मालूम है की भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से इस लंका के ऊपर भी विजय प्राप्त होगी ही होगी ऐसे समझ करके विश्वास के साथ आशंका के माने एक तो आशंका के माने है कि निर्भय होकर के इन्होंने आक्रमण कर दिया और दूसरी जो शंका भी इनके मन में नहीं है ये अगर युद्ध करने कोई चलता है तो शंका है पता नहीं ये जीतेंगे कि हम जीतेंगे ऐसे इनको कोई शंका नहीं ये जानते हैं कि विजय तो हमारी होगी कोई रावण के विजय थोड़े होने भगवान श्री राम जी हमारे साथ इतने शक्तिशाली है फिर बना क्या हारने की बात इसलिए हारने का तो विचार ही नहीं जीतने जीतना है ऐसे विचार करके ये सब लोग आक्रमण कर देते हैं और घटा टोप कर तो घेरी घटा टोप करके माने चारों तरफ से घेर करके चारों तरफ चार दरवाजे थे तो चारों तरफ से उन्होंने ऐसे घेर ली जैसे कि बरसात के दिनों में बादल आ जाए चारों से शाम सब जगह बादल ही बादल दिखाई दे ऐसे करके बादल की तरफ छा गए और मुखई निशान बजाने घेरी अब इनके पास बजाने के लिए कोई बाजा तो थे नहीं ये होते थे तो जमाने में राजाओं के साथ में बाजा बजाने वाले भी साथ में चलते थे वे लोग अपने जो बाजा बजाते थे तो उससे ये युद्ध करने वाले लोगों में उत्साह जागृत होता था बाजी की ध्वनि ऐसी बजाई जाती थी जिससे कि उनके अंदर देवता का भाव जागृत हो अब इनके पास कोई बाजा बजाने वाला नहीं था तो ढेरी बजावे नगाड़ा बजावे तो कैसे बजे ये अपने मुंह से ही इन्होंने अपने बजा दिया उसी प्रकार से आवाज कर दी बस हो गई उनके ढेरी नजारे बस हो गए इस प्रकार से खालू लोग बजाते हुए और प्रकार करते हुए चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण कर दिया जय श्री राम जय लक्ष्मण जय कपी सुग्रीव ये लोग जयकार बोलते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान श्री राम जी की जय हो लक्ष्मण जी की जय हो सुग्रीव जी की जय हो हम्म, कपी <clears throat> सुग्रीव कपियों का राजा जो सुग्रीव उसकी जय हो तो इनकी ये राजा इनके मुख्य राजा तो राजा सुग्रीव ही है इसे सुग्रीव की जय बोलते हैं और फिर सुग्रीव के ऊपर भी इस समय भगवान राम और लक्ष्मण है तो भगवान राम की जय जयकार बोलते हैं लक्ष्मण की जय जयकार बोलते हैं और बस आक्रमण कर दिया है ना तो गर्जय सिंह नाद कपी भाग <clears throat> गर्जय सिंह नाद और गर्जना करते हैं जैसे सिंहनाथ की तरह सिंह जैसे दहाड़ता हो इस प्रकार से निर्भय होकर के गर्जना करते दहाड़ते हैं और कपि भालू महाभक्ति अब इस समय भालू बानर जो है इनकी साधारण शक्ति नहीं है इनमें बड़ी शक्ति इनमें आ गई बड़े शक्तिशाली होकर के इन्होंने आक्रमण कर दिया बस इस प्रकार से ये है पहले दिन का आक्रमण शुरू होता है और युद्ध होता है अब देखेंगे आगे कल भी युद्ध कैसे आगे बढ़ता है रावण की तरफ से जो रावण प्रत्याय आदेश देता है कैसे युद्ध करने के लिए कहता है उसकी तरफ से क्या व्यवस्था चलती है युद्ध की तो दोनों तरफ का फर्क है अब यहाँ तक अभी तक जो चर्चा चली उससे अब रावण और रावण की और भगवान राम का युद्ध होना है लेकिन रावण की भी की महिमा इन दोनों में जो कुछ है वो भी उजागर कर दी गई रावण का जो परिचय न किसी को मालूम हो तो इतने दिन जो चर्चा चली उसमें रावण का भी परिचय पता चल गया कि कितना शक्तिशाली और कैसा है और भगवान की भी महिमा